असलकम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह आओ आओ चले रोज़ाए पाक पर चल के उनसे कहे ने आलम आओ आओ चले रोज़ाए पाक पर चल के उनसे कहे दासीता ने आलम ए मुसीबत के बादल छटेंगे कभी ये मुसीबत के बादल छटेंगे कभी चले रोज़ाए पाक पर चल के उनसे कहे दासी ताने आलम जगमगा